उलामाए अहल सुन्नत की जीती जागती तकरीरों का मरकज अल फारूक केसट हाउस ख्याली अड्डा गुजरावाला अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة والسلام عليك يا سيدنا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله مولاي صل وسلم دائما ما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل عون من الأهوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم الله تبارك وتعالى جل جلاله وعم نواله واتم برهانه وعظم شانه کی حمد و ثناء اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات दिल के बचने कायनात दस्त दिए जहां गम सारे जमा सैद सरबराम हामिन बेकसाम आयतुलसलीम और रहमत आलमीन अहमद मुबतला जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लाबी वबारक वसलम के दरबार गहरबार में अदलिया सलाम अर्ज करने के बाद खल खालिक कायनात जल्द लोगों का करोड़ों मरतबा शुक्र है तो उसने हमें सेहत व आफियत के साथ अशरा रहमत में बंदगी की तोफीक बख्शी और आज हम उसी के फजल करम से अशरा मफरत में पहुंच चुके हैं मेरी दुआ है खल के कायनात जन्न जलालू मगफरत के इस माहौल में हम सबको मगफरत अदा फरमा मोहतशम सानी हजरात आज हमारे खुतब जुमा का मौजू है मफहूम कुरान बदलने की वारदात इससे कदम इस मौजू की चार किस्तें पेश करी जा चुकी हैं जिनमें से दो किताबी शक्ल में भी आ चुकी हैं ये इस सिलसिले की पांचवी किस्त है मौजूदा हालात में कुरान फहमी के लिहाज से ये तकारी नहायत अहम है यकीन आपके जिले में पहली तकारी का खाका मौजूद होगा एक है कुरान मजीद कुरान रशीद के अल्फाज का तर्जुमा गलत करना दूसरा है कि तर्जुमा सही करके मफहूम गलत निकालना तो ये खिताबात इस मौजू पर थे कि जो लोग कुरान मजीद की आयात का तर्जुमा तो सही करते हैं लेकिन उससे मफहूम गलत निकालने की कोशिश करते हैं अगरचे इन लोगों का एक पूरा शोबा मुख्तलिफ मकाम पर तर्जुमे की गलतियों का भी है लेकिन ये तकारीफ जो है ये मफहूम की गलती के बारे में थी कि कुरान मजीद की आयात का तर्जुमा सही करते हुए मतलब गलत निकालना कलाम का रुख तब्दील करना कलाम के मुखातब में तब्दीली लाना और इस तरह की सारी चीजें जो पहली तकरीर के अंदर जिनकी निशानदेही गई थी आज की गुफ्तु भी चंद आयात के हवाले से है जो कि मौजूदा जमाने में अक्सर पढ़ी जाती हैं और उनके बारे में मजामी वगैरह भी अक्सर लिखे जाते हैं कुरान मजीद जहान रशीद में अल्लाह तबारक वाली ने तीन तबकात का जिक्र जिस अंदाज में किया है आज कुछ लोग कुरान मजीद पढ़ के उन तीनों तबकात के दराजात जो हकीकी कुरान मजीद में मौजूद है उनके बरक्स लोगों को उनका तारुफ करवाते हैं एक तबका मोमिन का है दूसरा मोमिन में से अलिया किराम का है और तीसरा अम्बिया हुसन अलहमसलाम का गुरु है जिनके अल्लाह तबारक मतला ने तमाम इंसानियत में सबसे ज्यादा शराफतें और अजमतें अदा फरमाई हैं इन तीनों के लिहाज से जितना भी आज का लिटरेचर जो एक मखसूस जहनीत के लोग शाय कर रहे हैं उस सब का महवर इन्हीं तीन दर्जात तीन तबकात की शख्सियात का जो गैर हकीकी तारुफ है वो पेश करना जबकि पुराने मजीद पुराने रशीद की आयात रसूल अक्रम सल्लल्लाहु वसल्लम की अहादीस सिहादा कराम अलहमदान के आसार और पूरी उम्मत मुस्लिमों के असलाफ के अकवाल जो है वो उस तरह उन शख्सियात का तारुफ पेश नहीं करते जिस तरह के एक मखसूस गुरु ने इन तीन दर्जात के बारे में अपने अफकार का या अपने आरा का इजहार करना शुरू कर दिया है और अब इस हद तक उसमें सख्ती आ गई है इन लोगों को किसी तरह का कोई कोई शर्म या हया बाकी नहीं रहा कि हम किन महूस के बारे में लिख रहे हैं वो तो कितनी बड़ी जवाब है बल्कि बिल्कुल इतने इतने भारी इल्जाम और गंदी गालियां जो मुशरकी ने मक्का को भी नहीं दी जाती थी वो इल्जाम और वो गालियां बल्कि इस वजाहत के साथ कि आज के ये लोग उन मुशरकी ने मक्का से माजल्ला ज्यादा शिरक में डूबे हुए हैं इन अल्फाज के साथ आज वो लोग अपने कुरान खानी और तफसीर के प्रोग्रामों में इस तरह की बातों का इजहार कर रहे हैं विश्वास के इस तारीख के नाजुक मोड़ पर हमारे लिए लिहाज जरूरी हो गया है कि हम पूरी तरह हम कुरान हासिल करते हुए खुद भी महफूज रहे और अपने भाइयों को भी इस वारदात और इस हमले से महफूज रखें जो कि कुरान मजीद की आड़ में मुसलमानों में तो किया जा रहा है मोहतम साबिर हजरात मोमिन के लिहाज से आम हर लिटरेचर में आपको ये बात मिलेगी बिलखसूस जो हज के मौका पर वहां पर फिर का वाराना लिटरेचर तकसीम किया जाता है वमा युमिन अक्तर हम बिल्लाह इल्ला वहम मुशरकून सूरा यूसुफ की भी आयत है वमा युमिन अक्तर हम बिल्लाह उनमें से अक्सर अल्लाह पर ईमान नहीं लाते इल्ला वहम मुशरकून मगर इस हाल में कि वो मुशरक होते हैं अब इस आयत का तर्जुमा थोड़े से अल्फाज के तबादले के साथ जो कि मुतरद है हर एक ने यही किया लेकिन इसका मफहूम बिल्कुल पुरानी मजीद की रोजा के बरक्स है यानी कुरान मजीद ने जिन लोगों के बारे में ये बात की है ये लोग उन लोगों से उस बात को हटा के औरों की तरफ इसको लगा रहे हैं या उनके साथ मोमिन को शामिल कर रहे हैं जिनको अल्लाह तबारक व ताला ने हर दिन अपने किताब का हिस्सा नहीं बनाया और अल्लाह तबारक व ताला ने उनका तस्करा इस मकाम पर नहीं किया वमा युकमिन अक्सर बिल्ला वहम मुशरकून इस आयत को पेश करके ये कहा जाता है कि आज बल्कि मैंने तो यहां तक सुना कि उम्मत की दो तीन सदियों को छोड़ के बाकी सारे लोगों पर वो इस आयत को मुंतबिक करते हैं अपने सिवा जितने भी उम्मत मुसलमान के अपराध हुए हैं तो ये सारे इनका ईमान शिरक के साथ मिला हुआ है इनके नमाज का कोई फायदा नहीं इनके रोजे का कोई फायदा नहीं इनकी जितनी भी दीनी शार इनके पास मौजूद है इनका कोई फायदा नहीं क्योंकि इनका ईमान ऐसा ईमान है जो कि शिरक के साथ मिला हुआ है और जो ईमान शिरक के साथ मिला हुआ उस ईमान की कोई हैसियत नहीं होती क्योंकि अल्लाह फरमाता वमा युमिन अक्तर हम बिल्ला वहम मुशरकून कि ये ईमान लाते हैं और साथ शिरक भी करते हैं लिहाजा इनका ईमान उस ईमान की कोई हैसियत नहीं है ये आयत पढ़ के वो वाज तौर पर अब सुन्नत व जमात के अकायद पर इसको मुंतबित करते हैं आपका और या अल्लाह के मजारात को जाना और रसूल अक्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बड़े पाक पे हाजिरी देना और सलात वसलाम का या रसूल अल्लाह पढ़ना और इस तरह की सारी चीजों को वो इसी दायरे में ला के ऊपर से याद करते हैं तमायुमिन अक्तर बिल्लाहम हूं तो नाजल्ला इनकी नमाज की कोई हैसियत नहीं क्योंकि ये दाता साहब भी जाते हैं इनकी हज की कोई हैसियत नहीं क्योंकि ये रसूल अक्रम सल्लाम की दहलीज पे भी हाजिरी देते हैं और इनके सारे दाढ़ी इमामा और सारे दीनी बकार की कोई हैसियत नहीं है इस वास्ते कि यह सलात वसलाम का या रसूल्ला करते हैं और जहां भी दुनिया में जिस कुत्ते में भी बैठे हो ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अपने आप को हाजिर समझते हैं और आपकी बारगाह में सीधा किताब के साथ दूसरी पढ़ते हैं माज अल्लाह इन सारी चीजों को नाजायज करार देने के लिए बस एक आयत पढ़ के वो अपनी तरफ से फातहाना अंदाज में बात को खत्म कर देते हैं कि वमा युमिन अक्सर हम बिल्ला इलाम मुशरकून तो जो कुछ तुम तुम्हें इन लोगों के ईमान का मंजर नजर आता है उसकी कोई हैसियत नहीं है इस बात को कि ये शेख में डूबे हुए हैं और सारे का सारा ईमान माजल्ला वो शिरक की नजर हो चुका है ये आयत पुराने मजीद की सूरा यूसुफ में मौजूद है इस आयत का हकीकी मतलब क्या है खाल के कायनात जलालहू ने मुशरकिन मक्का की एक पॉलिसी का रद्द किया जब उनसे कोई बंदा यह सवाल करता था कि आसमान को किसने पैदा किया जमीन को किसने पैदा किया अर्श किसका है फर्श किसका है तो वो इसके जवाब में अल्लाह का नाम लेते थे बमा युग मेनू अक्सर हम बिल्ला इस ईमान से मुराद ये नहीं कि वो ईमान जो अल्लाह की तोहीद पर हो रसूल अक्रम सल्लम की रिसालत पर हो मलाइका पर हो किताबों पर हो अंबिया पर हो आखिरत के दिन पर हो इस ईमान को शिरक के साथ यहां पर नहीं मिलाया गया ये उस ईमान की बात है जो जुजवी तौर पर एक बात वो सच्ची करते थे जबकि उनसे पूछा जाता था पुरानी मजीद में मौजूद है वाला इंसान तमन खलक समावाती वल अर्दा महबूब अगर आप उनसे सवाल करें मुशरकिन मक्का से कि जमीनों आसमां को किसने पैदा किया तो वो जरूर कहेंगे अल्लाह ने पैदा किया ये ईमान उनका जिक्र किया जा रहा है कि मुशरकिन मक्का जब वो आप साल करते हैं कि जमीन को किसने पैदा किया इसके जवाब में वो ये नहीं कहते कि हमारे फलाम बुत ने पैदा किया और आसमान को किसने पैदा किया इसके जवाब में वो ये नहीं कहते कि हमारे फुलाम बुत ने पैदा किया इसका जवाब यही देते हैं कि अल्लाह ने पैदा किया साल के कायनात फरमाता कितने जालिम है मुझे जमीन आसमान का खालिक मानते हैं ये ईमान है मुझे जमीन आसमान का खालिक मानते हैं जमीन आसमान का खालिक मानते हैं ये ईमान है मुझे जमीन आसमान का खालिक मानते हैं इसके बावजूद मेरी तहीद के कायनी सही बुतों को करते हैं इनकी इस मानने का मैं कोई लिहाज नहीं करूंगा ये मानना ना मानने की तरह है क्योंकि इबादत ये मेरे सिवा औरों के लिए करते हैं वमा युकमिन अक्तर हम बिल्ला इल्ला वहम मुशरकून यहां पर नमाजियों की बात नहीं हो रही यहां पर रोजेदारों की बात नहीं हो रही यहां पर उन लोगों की बात नहीं हो रही कि जिनका कुतुब और मलाइक पर ईमान है और आखिरत के दिल पर ईमान है और फिर वो दाता साहब जाते हुए माजल्ला उनका यह तस्करा इस अंदाज में किया गया हो नहीं नहीं खाल के कायनात फरमा रहा है और मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि ये लोग जो मुझे मानते हैं कि मैं बारिश बरसाता हूं मुझे मानते हैं कि मैं रबुल से अजीम हूं मुझे मानते हैं मैं खालिक हूं जमीन आसमां का इनका यह मानना इसकी कोई हैसियत नहीं है इसका कोई नंबर इनको नहीं मिलेगा कोई स्वाद इसको नहीं मिलेगा इस वास्ते कि ये मबूद बुतों को समझते हैं लिहाजा ये शिर कर रहे हैं और उनकी इस ईमान की कोई हैसियत नहीं है कितनी बाजे बात थी और कहां से मामला कहां तक पहुंचा दिया गया हर के कायनात जलालू ने बार बार इस मजमून को पुराने मजीद में बयान किया है कुल लिमन अर्द वमन फीहा इन कुल पूता आलमून सयकूलून लिल्ला मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे पूछो जमीन किसकी है और जो कुछ जमीन में है वो किसका है मुश्रकों से पूछो परमा सलकूलून लिल्ला सारे कहेंगे अल्लाह की है अल्लाह के बारे में जवाब देंगे जमीन अल्लाह की है जो कुछ जमीन में है वो भी अल्लाह का है आसमान भी अल्लाह का है दिया भी ही मलाकूत समावा के वलब सब कुछ उसका है खालिक के फरमाता है ये मानते हुए भी सजदा बुतों को करते हैं बमा युकमिन अक्सर उम बिल्ला महबूब ये ऐलान कर करते मेरे सहाबा में इनका ये जवाब देना इसकी वजह से कोई नरमी इनके साथ ना रखे ये कहने के बावजूद ये मुशरक है और इनका ईमान हर दिन मोतबर नहीं होगा इसका माकबल देखिए वकई मिन आयतिन किस समावाती वल अर्दी यमुर्रून अलैहा वहुम अनहा मोरदीन पर मैं देखो मेरे महबूब कितनी आयात है आसमानों में और जमीनों में यमुर्रून अलैहा ये उनके पास से गुजरते हैं और उनसे एराज करते हैं मेरी आयात जो इन्हें मेरी तोहीद का पैगाम देती है हर हर जर्रे में मेरी तोहीद का पैगाम लिखा है फूल के माथे भी तोहीद का मजमून लिखा है शबनम के अंदर भी तोहीद का पैगाम लिखा है चलती हवाएं भी तोहीद का सबक देती है और लहरें और फिजाएं भी तोहीद का नजमा सुनाती है ये आयात को देखते हैं और फिर भी एराज करते हैं और तोहीद इनको समझ नहीं आती महबूब जब ये एराज तोहीद से कर रहे हैं तो जो वो पहले कह रहे थे कि जमीन का खालिक अल्लाह है उस कौल का कोई एतबार नहीं होगा इस वास्ते तो ये पक्के मुशरक है अब यमुर्रून अलैहा गुजरते हैं और एराज करते हैं अल्लाह इन्हीं लोगों के बारे में फरमा रहा है कि ये एराज करने वाले हैं मोरदून है एराज करने वाले हैं तो जो एराज करने वाले हैं उन्हें मोमिन किस तरह कहा जा सकता है जिन्हें अभी एराज करने वाला पहली ऐप में कहा यमुर्रून अलैया वहम अनहा मोरदून एराज करने वाले हैं जब एराज करने वाले हो तो पता चला जो आगे ईमान का इन्हीं के बारे में जिक्र आ रहा है वो ईमान एक दो चीजों के बारे में है चंद चीजों के बारे में वो ईमान नहीं जो मोमिन का ईमान होता है क्योंकि मोमिन को एराज करने वाला नहीं कहा जाता तो कुरान मजीद की इस आयत का माकबल भी इस बात को पक्का कर रहा है कि यहां बात हो रही है एराज करने वालों की जो अल्लाह तबारक बताला के दीन से तोहीद से इस्लाम से शरीय से इराज करते हैं ना फरिश्तों को मानते हैं ना मलायद ना किताबों को मानते हैं ना रसूलों को मानते हैं ना बास बादल मौत को मानते हैं ना आफत को मानते हैं ना तोहीद को मानते हैं सिर्फ जमीन का खाल खुदा को मानते हैं आसमां का खाल खुदा को मानते हैं ऐसी चंद चीजों को मान रहे हैं खाल के कायनात फरमाता ये मानने वाले नहीं ये इराज करने वाले हैं और इन्हीं लोगों को मैं मुश्रक करार दे रहा हूं मोहतम सामिन हजरात ये आयत पेश नजर रखते हुए और कुरान मजीद की दीगर आयात को सामने रखिए फिर पता चलेगा कि यहां पर अल्लाह तबारक व ताला ने किस तरह के ईमान का जिक्र किया और किस तरह के सिर का जिक्र किया आशा बकल्ला सौ फीसद से ज्यादा यकीन से कहता हूं ये आयत अल्लाह तबारक व ताला ने अबू जान उतबा और शोबा के बारे में नाजल की है इस आयत का ताल्लुक हर चीज किसी मोमिन से नहीं है रसूल अक्रम सल्लाह अलैहि की उम्मत मुताहरा जो सदियों से जिस अकीदे पे आ रही है ये वो अकीदा है जो रसूल अक्रम सल्लल्लाहु अलैहि ने सूफा पे बैठ के तकसीम किया था ये कुरान मजीद की आयत में इन लोगों के अकीदे का इनकार नहीं किया जा रहा बल्कि अबू जाल उत्बा और शैबा के अकीदे का इनकार किया जा रहा है दूसरे नंबर पर एक आयत बड़ी कसरत से पढ़ी जाती है इज न अल्लवीन तुबियू न तबाऊ क्यामत का दिन होगा तो पेशवा अपने पैरोकारों से बरात का इजहार करेंगे पेशवा लोग अपने पैरोकारों से बरात का इजहार करेंगे या अल्लाह हमने नहीं कहा था कि हमारी बात मानो ये खुद ब खुद हमारे पीछे चल रहे थे और पैरोकार कहेंगे या अल्लाह हमें एक बार दुनिया में भेज फिर हम देखते हैं कि हम किस तरह इनके पीछे जाते हैं हम वहां उनसे बेजारी का इजहार करेंगे ये जो हशर का एक मुकालमा है ये आयत कस अक्सर से वो कैंप इसकी तिलावत करता है और फिर इससे अपना गलत मफहूम निकाल के मफहूम कुरान पर वारदात करता है इस तबर अल्लगी नतुब जब बेजारी का इजहार किया उन लोगों ने जिनकी इतबा की गई किनसे मिनल्लगी नतबाऊ उनसे कि जो इतबा करने वाले हैं इनसे बेजारी का इजहार करेंगे अब ये आयत मुशरकिन के बारे में थी यानी अबू जाल अपनी कौम का सिरदार है अब उसके मानने वाले उसके साथ चलते हैं रसूल वसल्लम की तरफ नहीं आ रहे खालको कायरात ने करना ये इनकी मोहब्बत इनकी संगत इनकी दिलचस्पी ये कुछ वक्त के लिए है जब हशर की आंधी चलेगी ये सारी संगतें टूट जाएंगी ये ताने बाने तारे अनकबूत की तरह खत्म हो जाएंगे ये आपस में जो इनका इतना गहरा ताल्लुक बना हुआ है अशर में ये एक दूसरे को गालियां देंगे अबू जहल अपने मानने वालों को कहेगा कि मैंने उन्हें नहीं कहा था कि तुम बुत तरक्की करो ये आप करते थे वो कहेंगे ये हमें मजबूर करता था ये हमें कहता था और ये मंजर अल्लाह तबारक वाली ने कुरान मजीद का जो पेश किया है इसको नाम निहाद लोग मोड़ के मफहूम कुरान पे वारदात करते हुए इसको अल्लाह के बंदों की तरफ ले आते हैं और इतने गुस्ताखाना कलिमात उनकी किताबों में लिखे हैं कि जिस वक्त पीर फकीर अपने मानने वालों से बेजारी का इजहार करेंगे या पीरों फकीरों और औलिया पे ये बात आ गई मुरीद और शेख पे ये बात आ गई कि असर का मैदान होगा शेख अपने मुरीद से बेजारी का इजहार करेगा और मुरीद अपने शेख से बेजारी का इजहार करेगा इस बेजारी के इजहार को माजल्ला आयत से साबित किया जा रहा है हालांकि कुरान का मतलब यह है जब सारी संगतें टूट जाएंगी ये बैत और अकीदत वाला तल्लुक फिर भी बरकरार रहेगा दुनियादारों का ताल्लुक और दीन वालों का ताल्लुक इस इसमें क्यामत के दिन कोई फर्क नहीं होगा तो फिर कब फर्क निकलेगा अगर शहनशाहों के साथ ताल्लुक रखने वाले का और किसी अल्लाह के मुहित के साथ ताल्लुक रखने वालों के ताल्लुक का फर्क हसर में वाजे नहीं होगा तो फिर यौम इम्तियाज कौन सा होगा हर के कायनात उस दिन में वाजे करेगा जिन्होंने मुझे छोड़ के मेरी मोहब्बत को छोड़ के दीगर बंदों के साथ ताल्लुक बनाया था आज आपस में दुश्मन बने हुए हैं लेकिन जो मेरी वजह से आपस में प्यार करते थे कुरान ऐलान करता अल असिल्लाओ योम बादुम लिबादिन अदम इल्लल मुत्तकीन सारे दोस्त दुश्मन बन जाएंगे मगर ये दीन वाले उस दिन भी एक दूसरे को दुआ दे रहे होंगे वो और पार्टी है कि जो बेजारी का इजहार करेगी वो मांगने वाले कहेंगे इसने हमें गुमराह किया वो कहेगा मैंने इनको नहीं कहा था वो और लोग हैं हम जिन लोगों की बात करते हैं और हमारा जिन लोगों के साथ ताल्लुक है खल के कायनात इस आयत ने वाजे कर दिया कि आयत पहली के आयत के रुख को ना बदलो वो और है जो बेचारी का इजहार करेंगे और जो बरात करेंगे और एक दूसरे को नफरत से देखेंगे पर मैं अल असिल्ला यौम दिन लिबादिन आदम सारी दोस्तियों के पथ पथचोट जाएंगे और सारी संगतें सत्य हो जाएंगी सारी दोस्तियां दुश्मन में बदल जाएंगी परमाइलमुतकीन जो मेरे हैं वो उस दिन भी प्यार करेंगे हल्के कायनात जल्ला जलालू को जिन लोगों का प्यार खुद मतलूब है उन्हें माजल्ला उसमें शामिल किया जा रहा है बेसारी का इजहार अबू जान करेगा बेसाई का इजहार उतबा करेगा शबा करेगा नमरूद करेगा फिरान करेगा मगर हसर के मैदान में आत्म हमद का झंडा होगा इमाम सलीम हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेसाई का इजहार नहीं करेंगे उनके फरमान मैं चमक के चेहरे देख के खुश हो जाऊंगा अंतमुल गुर्रुल और मेरे उम्मतियों तुम्हारे चेहरे चमक रहे होंगे मेरे हाथ में लिबान हमद होगा मैं मकान महमूद पे बैठा हूंगा सारी उम्मत मेरे सामने होगी अम्बिया भी मेरे झंडे के नीचे बैठे होंगे ये आपके साथ जो ताल्लुक है ये वैसा ताल्लुक नहीं जो बेसारी वाला हो इस दिन दोनों तरफ से मोहब्बत बढ़ चुकी होगी महबूब सलाम ऐलान कर रहे होंगे और दीवाने आज भी कहते हैं सबा वो चले तो बाग फले वो फूल खिले तो दिल भले निवा के तले सना में खुले निकाले रजा की जुबान तुम्हारे लिए बेजारी का इजहार और करेंगे ये तो दुनिया में भी उस दिन की मोहब्बत के गीत गा रहे हैं कि तो उस दिन भी किसी बात का इजहार किया जाएगा अब देखो ये अजीम लोग सैदना सिद्दीक अकबर रबी अल्लाह तालान हो सैदना फारूक आजम रबी अल्लाह तालान हो सैदना उस्मान गनी रबी अल्लाह तालान हो सैदना अली अलमुर्तदा रबी अल्लाह तालान हो तलाह जुबैर सादो सईद अलहमरिदवान ये सारे लोग इनके हम पैरोकार हैं हजरत इमाम आजम अबू हनीफा हजरत गौसी आजम हजरत दातागंज सजवेरी हजरत मुजद पेशानी हजरत इमाम अहमद रजा का फाजल बरेलवी रहमतुल्ला रहम ये सारे लोग जो है इनके साथ पीछे पीछे हम चलते जा रहे होंगे सारे अंदाज क्या होगा नूर आंखों पे तो चेहरों पे उजाले होंगे मुस्तफा वालों के अंदाज निराले होंगे ये तो सारे खुश होंगे कि इनकी वजह से हमें भी नूर मिला है वरना डूब जाते हम अंधेरों में हमारा कोई परेशानी हाल न होता खाल के कायरा फरमाता याद रखना अल्लाह यौम बाद आज दोस्ती का किबला सही कर लो सारी दोस्तियां खत्म हो जाएंगी मगर ये वो दोस्ती है जिसका झंडा उस दिन भी लहराता रहेगा बल्कि ने शवाब ईमान में यह हदीस रवायत की है कि रसूल अक्रम सल्लल्लाहु वसलम इशाद फरमाते हैं कि हशर का मैदान होगा लो अन्न अब दैनी तहाबा फिल्लाही कान अहद हुमा फिल मशरक वाहिद फिल मशरक बल आखिर फिल मगरब लजमा अल्लाह बैन हुमा यौमल कियामा हम महबत करते हैं उनमें से बहुत सी जबात ऐसी है जिस वक्त जमीन पे मौजूद नहीं हम जिनको देख नहीं सकते मगर प्यार उसे करते हैं और बहुत से हैं वो जिंदा है मगर दूर रहते हैं हम उनको देख नहीं सकते ये ताल्लुक अल्लाह को इतना पसंद है हल के कायनात अशर के दिन इन मुहिबीन को दुनिया में जहां कहीं होंगे उठा के इकट्ठा फरमा देगा इस तबर्रा लजीन तो भी हो मेरा लजीन तबाऊ उधर तो वो बरात बेजारी का इजहार करते हैं और इधर खुद खुदा जिसकी तोहीद की आड़ में ये लोग गुस्ताखियां कर रहे हैं तो उसके बारे में सरकार फरमा रहे हैं लो अन्नाबीन तहाबा फिल्ला है वो दो बंदे तहाबा जो आपस में मोहब्बत करते हैं तस्लिया का सीजा है मोहब्बत आपस में है क्यों फिल्ला है अल्लाह के लिए है है हाँ, मोहब्बत आपस में मगर अल्लाह के लिए है जैसे खालिश मुरीद की खालिश पीर के साथ होती है खालिश शागिर्द की खालिश उस्ताद के साथ होती है खालिश अवाम की खालिश मिसरे के साथ होती है मेरे महबूब अलैहिस्सलाम इशाद फरमा रहे हैं आपस में प्यार उनका माली माती नहीं आपस में प्यार उनका गुबार आलूद नहीं सिर्फ प्यार की वजह यह है एक दूसरे को देखता है तो खुदा याद आता है मेरे महबूब इशाद फरमा रहे हैं हसर का मैदान होगा दुनिया में इनमें से एक मशरक में था दूसरा मगरब में था करीब करीब नहीं थे इतनी ज्यादा दूरी थी लजामा अल्लाह बैन यौमल क्यामा अल्लाह दोनों को क्यामत के दिन जमा फरमा देगा ये एहतमाम है इनकी मोहब्बत का ये इंतजाम है खाल के कायरात की तरफ से फरमा दुनिया में तुमने तो आपस में मोहब्बत की मगर देख ना सके तुम मोहब्बत करते रहे मगर महबूब अलैहिस्सलाम को देख ना सके मोहब्बत करते रहे सिद्दीक अकबर रबी अल्लाह तला को देख ना सके मोहब्बत करते रहे तुम इमाम आजम अबू हनीफा को देख न सके मोहब्बत करते रहे और वाश आजम रबी अल्लाह तला को देख ना सके मोहब्बत करते रहे और हजरत दाता गंज बख्शजवेरी को देख न सके सरकार समाते हैं और मुहिबो खुदा तुम्हें महबूबों से मिला देगा अब देखिए कितना फर्क निकला जिस अंदाज में अल्लाह ने इस अलिया के साथ ताल्लुक को कबूल किया है माशर में सारे बिखर जाएंगे किसी के जमा होने का कोई इम्कान नजर नहीं आएगा करोड़ों इंसान है अरबों लोग हैं लेकिन इनमें दुनिया में एक मशरक में था दूसरा मगरब में था आपस में ताल्लुक मोहब्बत का कायम था इरादत थी उल्फत थी अकीदत का मंजर मौजूद था अगर के देख भी नहीं सके खाल के कायनात इनको जमा फरमाएगा और जमा करके अल्लाह एक बात फरमाएगा हदीस में है खाल के कायनात फरमाएगा हाजल्लजी कुंता तुहिब रूफिया ये है वो गौस दिल से तू मेरे लिए प्यार करता था हाजल्लजी कुंता तुहिब हूं ये वो है जिनसे तू प्यार करता था एक मशरक में है दूसरा मगरब में देखा नहीं है अब तारुफ कैसे होगा तारुफ अल्लाह करवाएगा आज अल्लाह भी तुम तक ही बहू ये है जिनसे तू प्यार करता था ये है जिनसे तू मोहब्बत करता था इनसे करता था मगर फिजा मेरे लिए करता था सारी मोहब्बतों के ताने बाने उखड़ गए हैं इस मोहब्बत का मंजर आज भी बाकी है लिहाजा वो और है वो और है कि जो बेजाई का इजहार करेंगे ये तो शुक्र अदा करेंगे तो खाल के कायनात ने कब से बिछड़ों को मिला दिया है कब से इंतजार में देखते थे चश्मे तस्वुर में देखते थे कि उनका हुलिया कैसा है उनका अंदाज कैसा है असर का मैदान जो में ही बन गया तो खाल के कायनात ने मुहिद्दीन को महबूबों के साथ मिला दिया है इस वास्ते फिजा अल्लाह के बिदा से है और कोई ताल्लुक नहीं है और ऐसे लोगों की बात मानने का हुक्म भी खुद खुदा ने दिया है और खुद अमर दिया है पर मैं बत्तबे सबीला मन अनादा इलैया ऐ मेरे बंदो तुम मेरे कुछ बंदों के पीछे पीछे आओ बत्तबे तुम इतना कर एक था तबर्रा लगी मतबे जिनकी इतबा की गई इतबा जिनकी की गई वो भी बेजार है इतबा करने वाला भी बेजार है वो इतबा वो है जो अल्लाह की इजाजत के बगैर है हम जिस इतबा के भाई हैं अल्लाह ताला ने खुद हुक्म दिया है मेरी तरफ जो रुजू कर चुके हैं मेरी तरफ जो झुक चुके हैं ए बंदो तुम हुक्म दे रहा हूं तुम उनके पीछे चलो वो मेरी बारगाह में पहुंचे हुए तुम्हें भी यहां तक पहुंचा दे हुए मोहतशम सानी हजरात ये दूसरी आयत थी मैं इतिसार के साथ इसका खुलासा और जो वारदात यहां पे लोग कर रहे हैं उसके बारे में अर्ज कर रहा हूं और शर सदर से पूरी तरह जामिन हूं सौ फीसद यकीन से कह रहा हूं और मेरे सामने दर्जनों में सैकड़ों हवाले हैं पूरी उम्मत का लिटरेचर जो है इसी बात पर है किसी एक बंदे का भी जहन किसी एक मुफसर किसी एक मुहदस किसी एक फकी का भी वो मौकफ नहीं है जो इन लोगों ने आज आज पेश करना शुरू कर दिया है और पूरी उम्मत को माजल्ला और उम्मत के अजीम लोगों को बुत कहना शुरू कर दिया है इन लोगों का ये अपना खुद साफ का नजरिया है कुरान सुन्नत की आवाज वही है जिस आवाज को इन आयात से मैं पेश कर रहा हूं मोहतम सामी हजरात फिर देखिए कुरान मजीद बुरहान रशीद में अल्लाह तबारक व ताला ने अम्बिया और रसलम के बारे में कुछ अल्फाज इस्तेमाल किए हैं उन अल्फाज को ये लोग ऐसे अंदाज में बयान करते हैं तर्जमे की भी बाज मकाम पर गलती करते हैं और फिर मफहूम को बहुत ज्यादा गलत इस्तेमाल करते हुए पैगंबर के मनसब को आम लोगों के साथ मिलाने की कोशिश करते हैं मिसाल के तौर पर कुरान मजीद का लफ्ज उम्मी है और लफ्ज आशा है गवाह है इस तरह की बातें रब्बाना गलमना इस तरह की बातें इनको बयान करते हुए वो मनसब नबूबत तो बिल्कुल आम लेवल पे आगे आते हैं इन नमाना मिसल कुम पर जो वारदात का जिक्र है वो पिछले साल तफसीलन उसका जिक्र कर दिया था अब सिर्फ चंद बातें इफ्तार मनूज खातिर है आपके सामने रख रहा हूं वह आशा आदम रब्बा का गवाह हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बारे में है वह आसा आदमू रब्बाहू पागवा अब इसका तर्जमा करते हुए और मफहूम बदलते हुए वो जो कुछ कहना चाहते हैं इस अशा की आड़ में कह जाते हैं या अब अल्लाह ने फरमाया अशा मैं पहले लुक भी माना बयान कर रहा हूं कि अशा मास्कत से बना है इसयान से बना है तो हम जो तो तर्जमा करते हैं हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अपने रब के हुक्म से लग्जश की लफ्जिश हुई क्योंकि खुद खुदा कहता नाशिया वो भूल गए अल्लाह तबारक व ताला ने नाशिया का लफ्ज बोला दूसरे मकाम पर तो पता लग गया कि अशा का मतलब क्या है अशा आदामो रब्बाहू उनसे अपने रब के हुक्म में लग्जश हो गई अब अशा को मासियत इसियान और फिर गुनाह और इसके नीचे फिर ये कहना कि अल्लाह के पैगंबरों में भी यूं हो जाता है वो भी ये कर लेते हैं उनसे भी ऐसा हो जाता है मतलब क्या है कि लोग उन्हें अजीम ना समझे अपने जैसे समझे बल्कि बहुत से तो ऐसे खुद गलती कर बैठते हैं तो कहते हैं आदम सलाम ने भी तो यूं कर दिया था इस अंदाज में तकाबुल में बयान कर देते हैं अब इस लफ्ज की आड़ में यह किया जा रहा है कि लफ्ज आसा आ गया आसा आदम रब्बा हूं मेरे भाइयों मैं कुरान मजीद की एक आयत उसके साथ पेश करके ये वादे करना चाहता हूं कि असा का माना वो नहीं है कि जो हम अपने उर्फ में मासियत का समझते हैं या गुनाह का माना समझते हैं या इस्लाम का जो मतलब जेनों में मौजूद है हर चीज ये माना यहां पे मुराद नहीं है क्योंकि अगर ये मासियत है तो फिर कुरान मजीद की आयत है वमई यासिल्लाह व रसूल फरीन रहू नारा जहन्नम जो मासियत करेगा उसके लिए जहन्नम की आग है तो माजल्ला कौन ये कह सकता है कि हजरत आदम सलाम उनको जहनम की तरह मनसूब करे ऐसा कौन कह सकता है अगर इस इसयान वाला माना होता मासीत वाला माना होता जिसकी आड़ में ये सारी कराते कर रहे हैं तो फिर वमैया व रसूल वो आयत सच्ची आके आपको हजरत आदम सलाम को माजला जहनम की तरह मनसूब कर देगी जबकि इसका तो सफर नहीं किया जा सकता मतलब यह है कि यहाँ पर मुराद है मामूली सी लफ्जश मुराद है मामूली सी कमी हजरत आदम सलाम ने अपने इश्तिहाद के अंदर एक मामूली सी लंगेश उनसे हो गई है अल्लाह तबारक वाली ने उसको असास ताबीर किया है और वलाद फरमा दी है इसे अपने गुनाहों जैसा ना समझना ये तो महज एक छोटी सी भूल है अगर इसको वही समझोगे तो फिर वमैया सिल्ला व रसूल नारा जहन्नम वो ऐप से क्या नतीजा निकलेगा आप मासी हो तो जो जो आसी होता है उसके लिए जजा क्या है कुरान जानने जजा बयान कर रहा है और अगर दूसरी तरफ रबा रबा का माना गुमराह हो गए माजल्ला नहीं क्योंकि रबा वाला जो बंदा उसकी जजा भी कुरान में लिखी है वह बुर्रजतिल जहीन लिल गावीन गावीन के लिए तो जहन्नम है और ये जन्नतें बांटने वाले हैं असा आदम रब्बहू हूं फगवा उन दोनों आजात ने यह वादे किया इस्लाम का माना भी और है और गुबा का माना भी और है बरेली से मेरे इमाम ने आवाज दी हजरत आदम सलाम अल्लाह की हुक्म में लंगश कर बैठे बस जो मतलूब चाहते थे उसकी राह ना पाई जो हासिल करना चाहते थे मतलूब क्या था समझा के अल्लाह ने शायद हर हर फर्ज से मना नहीं किया दरख्त के एक फर्ज से मना किया है और पूरी नौ से मना नहीं किया बाकी से खाना जायज है इसकी वजह से जो मतलूब था उसको पाने में पीछे रह गए हकीकत में उनका कोई इरादा नहीं था और इस तरह का कोई ख्याल नहीं था वो ये समझ रहे थे कि रोका एक मुयन दस्त किया गया है उसी तरह के जो दूसरे दृष्ट है उनसे खाना जायज है और उस तरह के दूसरे दृष्टों से खा लिया हल के कायनात ने फरमाया वो तलाश मतलूब में निकले थे मगर मतलूब को पाने में मंजिल तक नहीं पहुंचे और मतलूब पाने में पीछे रह गए हैं न कि माज अल्लाह वो गुमराह हो गए और अल्लाह की बारगाह से दूर हो गए असा आदम रबहू फागवा ये जवाब वाला माना जो गावीन का है दोनों लफज एक है मादा एक है उनके लिए यही है लेकिन चूंकि ये हजरत आदम सलाम के लिए खुदा ने इस्तेमाल किया है इससे पता चला कि ये मकसद इनका एक इतिहादी तौर पर खता का मंजर है रसूल अक्रम सल्लाम के हाथ में सोना चांदी था बिंदर पे बैठे थे फरमाया हाजान मुहर्रमान अला उम्मती ये दोनों मेरी उम्मत पर हराम है तो अब इसका एक मतलब तो यह है कि जो दोनों मैंने हाथ में पकड़े ये हराम है बाकी सारी किसी नौ की चीजें जायज हैं और दूसरा ये है कि इस तरह का सारा सोना चांदी हराम है तो हाजान मुहर्रमान अलाउन्नति इससे मकसद क्योंकि ये भी निकल सकता था कि जो ये जेवर मेरे हाथ में ये हराम है बाकी हराम नहीं और दूसरा मतलब जो सही था पूरा वो ये था कि जो भी सोने की चीज बनी हो और जो भी चांदी की बनी हो अगर चाहिए ना हो तो यार हो वो भी हराम है तो एक होता है फर्ज से ममानत एक होती है नौ से ममानत अल्लाह तबारक बताला ने ममानत नौ से कर रखी थी हजरत आदम इस्लाम फर्ज की समझ रहे थे इस बात से उन्होंने मोयन दरख्त को छोड़ के दूसरे दरख्त का इरादा कर लिया खाल के कायनात ने फरमाया सा आदम रब्बहू फगवा जो हकीकी मुराद थी वो नहीं पा सके अगरचे तलाश मेरी रजाई थी और इसलिए चल रहे थे अल्लाह ने इस ये लफ्ज अपने अपने मुकर्रब बंदे के बारे में इस्तेमाल करवा दिया अब इसको सामने रख के माजल्ला हर तरह की कबाहते उनकी तरफ मनसूब की जाए ये मकाम नबूवत के खिलाफ बहुत बड़ी बगावत है और बहुत बड़ी सरकशी है उनका मकाम इतना ऊंचा है उनके बारे में ऐसे लफ्ज मिलते हैं लेकिन मतलब और होता है रब्बना गलमना अनफुसना ए अल्लाह हमने अपने हिस्से में कमी कर ली रब्बना गलमना अब जुल्म कमाना बोझ नहीं है जो आम लोगों के लिहाज से होता है अगर वो हो तो फिर खुदा का ऐलान है अलामी जालिमों पर खुदा की लानत है अगर हाजत आदम सलाम की तरफ जुल्म की नस्बत करोगे तो माज अल्लाह फिर लानत की नस्बत करना आ जाएगी और वो कितनी बड़ी जसारत होगी हजरत आदम सलाम के बारे में जो लफ्ज जलमना बोला गया ये लफ्ज जलमना अरबी जुबान में किसी का हिस्सा कम करना उसको जुल्म कहते हैं पर मैं हमारा हिस्सा जो हमारे रब के यहां था उसमें हम कमी कर बैठे हैं अब उर्फ में जब कहा जाएगा उन वो जालिम है माजल्ला तो फिर इस हर जालिम कहेगा हम अगर जुलम करते तो वो भी जुलम कर बैठे थे उन्होंने भी जुलम किया था अब इस तरह करके बहुत बड़ी जसारतें शुरू हो जाएगी और बहुत बड़ी गुस्ताखियां शुरू हो जाएगी इस वास्ते अगर कि उन्होंने रब्बाना सलाम ना बोला है मगर अला लानतुल्लामी यह आयत बता रही है यहां गुजरते हुए हजार अदर से गुजरो कभी भी अपने जुलम को उनके उस बात की तरफ ना ले जाओ इस वास्ते उनका मकाम और था मर्तबा बहुत ऊंचा था इस लज्जत से कुछ हिस्से में कमी हुई है उन्होंने उस कमी का इस मकाम पर बयान कर दिया है मोहतम सानी हजरात अम्बिया कराम का मकाम मरतबा अल्लाह ने वो कुरान में जुदा रखा है फरमाता मैं युजादिल्लाहमल क्यामा कौन है जो अल्लाह से क्यामत के दिन झगड़ा करे किस चीज की जरूरत है कि अल्लाह से झगड़ा करे खाल के कायनात ने मुस्तरद कर दिया कोई कितना बड़ा ताजवर क्यों ना हो कितना बड़ा हुक्मरान क्यों ना हो उसमें यह ताकत नहीं है कि वो अल्लाह ताला से झगड़ा कर सके लेकिन यही झगड़ा जो औरों के लिए इतना मजलूम था अल्लाह ने अपनों के लिए साबित फरमा दिया किस तरह फरमाया जाहब अनहुर्रो वजातल बुशरा युजा दिलुना फी कौन लूत इन इब्राहिम अल हलीम उन अब्बाहमीब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास फरिश्ते आए हुए थे बातचीत हो रही थी और उनसे गुफ्तगु करते करते जिस वक्त फरिश्तों ने यह बताया कि हम तो कौम लूत को आजाद देने के लिए आए हैं तो अल्लाह फरमाता युजा दिलो ना वो इब्राहिम हमसे झगड़ में लगे युजा दिलो ना हमसे जुदाल कर लिया हमसे झगड़ा किया अरे अल्लाह तू तो यह फरमाता नहीं युजा दिल्ला कौन अल्लाह से झगड़ा कर सकता है किसी के बारे में कौन झगड़ सकता है किसी की सिफारिश उसके साथ कौन कर सकता है कौन झगड़ सकता है तूने तो इतना सख्ती से फरमाया है कारीगर खुद कहता है युजा दिले ना वो हमसे झगड़ते हैं फी कौन लूट लूत अलैहिस्सलाम की कौम के बारे में अः अल्लाह फिर क्या ये जिस तरह तूने वहां जगरने की नहीं करती थी और जगरने वाला तेरी बारगाह का जुटकारा न होता है यहां जो झगड़ा कर रहे हैं इनका मकाम क्या है अल्लाह फरमाता सोच के बोलो इन इब्राहिम न हलीम अब्बार मुनीब यहां झगड़ा इब्राहिम कर रहे हैं मैं इनको झगड़ालू नहीं कहता इनको हलीम कहता हूं जुजा दिनोना भी मौजूद है और साथ ही इन्ना इब्राहिम हलीम लोगों झगड़ा मुझसे करता है मगर प्यार का झगड़ा है अपनों के झगड़ों को झगड़ा ना समझो जुदा को लेना लफज वही है जिसकी मुसम्मत की थी मगर फरमाइए जो मकाम नबूवत है जुदा को लेना हमसे बार बार झगड़ रहे हैं झगड़ा कर रहे हैं कौन लूट के बारे में कहते क्यों अजाब आएगा हमसे झगड़ा कर रहे हैं लोगों इनके झगड़े को मकान नबूवत के खिलाफ ना समझो मामूली सारी मरतबा कम ना समझना फौरन तीन किस्में बयान कर दी इन इब्राहिम अला हलीम ये तो इब्राहिम बड़े हौसले वाला इब्राहिम है तहमल वाला है इब्राहिम इन इब्राहिम अल हलीम अब्बाह मुनीब ये तो बड़ी मेरे गम में आहें भरने वाला है और मुनीब है ये मेरी तरफ रुजू करने वाला है लिहाजा कोई और कौन हो सकता है जो मुझसे झगड़ सके उससे पहले ही उसके पैसे उतार दिए जाए मगर ये चूंकि मेरे सलील है झगड़ते भी है फिर भी मैं इनको हलीम कहता हूँ देखो कुरान मजीद बुरहान रशीद ने कितना बाजे फर्क रखा है औरों को देखो तो और तरह उनको देखो तो और तरह और आज की उस कैम का वतीरा ही है वो जहां भी इनका मनसब बयान करे असर का मैदान हो या दुनिया हो इन्हें माजल्ला रंजीदा और मकबूज मकबूज किस्म के लोग बना के माजूर किस्म के लोग बना के पेश करते हैं असर के मैदान का जब नक्शा बयान करते हैं तो फिर भी अम्बिया रुसल का इस तरह का मकान बयान करते हैं हालांकि अल्लाह तबारक व ताला ने हसर के दिन भी इनको सारी घबराहटों से महफूज रखा है इनको नहीं इनके मानने वाले भी महफूज रहेंगे बहुत मुनफादन योम दिन आमिन वो उस दिन इस सजा से बिल्कुल महफूज रहेंगे याद रखना ये उन लोगों को अल्लाह तबारक वाली ने मकाम दिया जिनके बारे में वो ऐलान करता है हजरत यहाम सलाम योम वलदा व योम तो व योम युग आसो हजा लोगों इस यहा पे सलाम उस दिन भी हो जिस दिन भी पैदा हुए थे सलाम उस दिन भी हो जिस दिन विशाल हुआ था और सलाम उस दिन भी हो जिस दिन हसर बपा होगा जिस साथ को अल्लाह सलाम कह रहा हो उन्हें डर किस तरह आ सकता है वो काम किस तरह सकते हैं वो अपने इंसान के बारे में उनको तस्वीर कैसे हो सकती है वो और लोग हैं जो उस वक्त कांप रहे होंगे अल्लाह तबारक बताला के आजाद से ये लोग वो हैं जिन्हें अल्लाह का सलाम इस्तेमाल में पेश किया जा रहा होगा एक है अल्लाह की अजाब का खौफ और एक है अल्लाह के रोब का खौफ और अल्लाह के जलाल का खौफ इन लोगों ने दोनों को मिला दिया और अम्बिया रसलम का हशर में आना यूं बयान करते हैं बल्कि दुनिया में भी सरकार के बारे में कि आखिरत का पता ही नहीं था माजिला मेरे साथ क्या होगा हशर में इस तरह की बातें करते हैं हशर के मैदान में अम्बिया का ये अंदाज जरूर होगा कि अल्लाह का जलाल उनके सामने है तो अगरचे इनके लिए बड़ा मुश्किल है मगर उसके जलाल का ये कमाल है उर्स के जलाल के सामने कांपेंगे मगर रोग और खुदा के जलाल की वजह से न कि आजाद के डर की वजह से खुदा की कसम है अल्लाह की आजाद ने वाजे कर दिया पैगम्बर ऐसे नहीं उठेंगे हाजी आजाद का कोई साफ उनको नहीं होगा सिर्फ अल्लाह की बारगाह को बेहिजाब देखना है अल्लाह के जलाल की वजह से वो सारी बातें होगी वो तो हजरत मूसा सलाम अगर टूटते थे एक तजली पहाड़ पे गिरी थी इन्होंने दिल वास्ता देखी थी फिर भी बेहोश हो गए थे वो मंजर होगा ना कि इन्हें अपना अंदेशा है कि हमारे साथ पता नहीं क्या बनती है जरूर किया इन लोगों ने जिन्होंने अम्बिया इस्लाम को इस तरह का इस तरह का डरता हुआ बना दिया इन्हें मादला हशर में अपने बारे में पता नहीं होगा तब हमारा क्या बनता है और आजाद से से डर रहे होंगे ये वारदात कर दी उन्होंने उन आकात के साथ इस वास्ते कि खाल के कायनात जल्ल जलालू की अम्बिया कराम अलहसलाम मखसूस मकाम पर अल्लाह के रोड के सामने उनका ये मंजर होगा लेकिन अल्लाह तबारक वाली का जमाल भी उन्हें अपनी तरफ मुतवजह करेगा इस वास्ते जिधर ये इशारा करेंगे वो सारे जन्नती बन जाएंगे जिस वक्त वो फरमाएगा इरफा रासा का या मोहम्मद इरफा रासा का सल तोता वस्पा तुशफा मेरे पैम्बर सर पर उठाओ मांगो तो सही संतोता जो मांगोगे दिया जाएगा अब जलाल हटा दिया है अब जलाल की बारी आ गई है लिहाजा खान के कायनात जल्दा जलाल हूँ इस अंदाज में इन मुकदस नफीस से बोल रहा होगा लेकिन उन लोगों ने माजल्ला ये अंदाज बयान किया जिस तरह आम लोग हम जैसे हम होंगे ऐसी मकान नबूत को बयान किया जा रहा है अल्लाह के कुरान ने वाजे कर दिया ये वो लोग हैं महबूब सलाम तो निबाउल हमद के साथ मकान महमूद पे बैठे होंगे सारे अंबिया भी आंखें उठाकर रिश्क से देख रहे होंगे ला यमलिकुल्लवीन यदून मिन दूनी नहीं मालिक होंगे शिफात के क्यामत के दिन नहीं मालिक होंगे नहीं मालिक होंगे आगे क्या लिखा इल्ला मन शाहिद अबिल हक मगर कुछ मालिक भी होंगे जिस चीज की नफी है उसी चीज का सबूत होगा ला यमलिकुल्लदीन यदऊना मन दूर नहीं अल्लाह के सिवा जिनको पुकारते हो ए मुशरिको वो मालिक नहीं होंगे किसी चीज के इल्ला मन शाहिद अबिल हक लेकिन जिन्हें मैंने नबूवत दी है वो मालिक होंगे शफात के जिन्हें मैंने अपना कोट दिया है वो मालिक होंगे शपात के वो मालिक होंगे सिफारिश के वो अपना पूजा पाने वाले को भी जन्म दे रहे होंगे इलामन शायद अमिल हक पुराने मजीद ने सिर्फ उनके लिए इस चीज का जवाब ही साबित किया बल्कि मिलत भी साबित कर दिया ला अमले को वाली आय के पढ़ने वालों इस मकान को गौर से पढ़ो खाल के कायनात ने पढ़ना मैंने तो इनको जन्नत देने का वारिस बना दिया है मोहतम सानी हजरात अल्लाह तबारक व ने कुरान मजीद बुरहान रशीद में अपने अम्बिया रसुल अलहमसलाम और अलिया कराम का जो मकाम बयान किया है आज कुरान मजीद की आयात पेश करके उसी मकाम को माजल्ला गिराने की कोशिश की जाती है जो कुरान मजीद बार बार ऐलान करता था कि कोई है जो मक्खी का पर बना सके कोई नहीं बना सकता मक्खी का पर भी नहीं बना सकता है मुश्रिको जिनको तुम पूजते हो वो मक्खी का पर नहीं बना सकता उनके पर बनाने की जो कुरान नसीब कर रहा था वो अल्लाह के पैगंबर का पूरा परिंदा बनाने का ऐलान कर रहा था हजरत ईसा सलाम कह रहे थे इन अखलों को ना कुमिन तीन कहे अति तैर मैं मट्टी से बनाता हूं परिंदे की तरह आंखों को सीधा कलकूल तयम्ला मैं पूरा परिंदा बनाता हूं मेरे अल्लाह की इलम से बनाता हूं तो कुरान मजीद ने साबित कर दिया वो और पार्टी है जो मक्खी का पर भी नहीं बना सकती और ये वो लोग हैं जो उसके इजम से पर क्या पूरा परिंदा भी बना लेते हैं और हशर में फरमाइल्ला मन शायदा दिल हक जो हक की बात करने वाले हैं उनकी सिफारिशों का और इनकी मदद कितनी होगी अल्लाह ताला ने चैलेंज से कह दिया सयालमूना मन हुआ शर्म मकान वादा को जुंदा फरमा कोई दूर नहीं कल पता चल जाएगा मुझे तो कल पता चल जाएगा किन के मामिन कमजोर थे और किन के जबरदस्त थे और इसको ए कल पता चल जाएगा पहले आयत में लिखा इन आजाद वही वस्सा हमारा तुम्हारा टकराव होगा या बदर के मैदान में या हशर के मैदान में या तो दुनिया में तुम्हें आजाद मिलेगा या हशर के मैदान में उस वक्त आज भी दो फौजी है उस वक्त भी दो होगी आज इधर मेरे महबूब के गुलाम है उधर उसी तो तुम हो पता चलता है इस जंग में पता चल जाएगा कि मददगार क्या ताकतवर किसके हैं अल्लाह ने अपने मददगार सिर्फ बनाया नहीं बल्कि उनकी ताकत को फजर भी फरमाया है अल्लाह ने खुद मददगार बनाए हमें पता चलेगा मददगारों का हम मुकाबला कराएंगे फरिश्तों मैं इनको कह दो मेरे महबूब ऐलान कर दो मुशरको तुम्हारा शैतान है और मेरे मोमिनों के फरिश्ते साथ है महबूब साथ है पता चलेगा मन व शर्र मकान व अब आप जुल्दा अब जईफ से इसमें तब्दील है ज्यादा कमजोर कौन है जुल्दा कमाना आवाना मददगारों के लिहाज से कमजोर कौन है मुशरक कमजोर है या मोमिन कमजोर है अल्लाह फरमाता है हसर का मैदान होगा मोमिन को बली हाथ से पकड़ के जन्नत में ले जा रहा होगा और काफिर का शैतान खुद भाग चुका होगा पता चलेगा अच्छे मददगार किसके हैं हल्के कायनात जल्ला जलालू ने खुद इस बात को वाजे फरमा दिया है दो मकाम पर नासरा का लफ्ज भी इस्तेमाल किया है सूरह जिन में पर नासर किसका अच्छा है जुल्द किसका अच्छा है मददगार किसका अच्छा है लिहाजा पता चला बात असल में सारी अल्लाह की है कि अल्लाह की तरफ से अगर कोई है तो वो मददगार भी अल्लाह ही का है और अल्लाह खुद उसकी तारीफ भी कर रहा है और उसकी बरतरी बयान कर रहा है कि काफरों का मददगार और मेरी उम्मत का मददगार काफिर अपने मददगार के बारे में बहुत कुछ ख्याल रखते थे और आज भी उन लोगों ने जो दूसरे कैंप में है वो ये बात अपनी किताबों में लिखते हैं कि शैतान बड़ा ताकतवर है मशरक में बैठे मगरब वालों को गुमराह कर सकता है बड़ी ताकत है उसकी बड़ी ताकत है उसकी मशरक में बैठे मगरब वालों को गुमराह कर सकता है और इधर हम कहते हैं रौस बगदाद में बैठते हैं और मगरब वालों को बचा लेते हैं सया नमूना मन हुआ शर्म मकान वाला को जंदा पता चल जाएगा मुआवन किसके ज्यादा मजबूत है और मावन किसके ज्यादा कमजोर है शैतान की ताकत का ऐलान करने वालों वो सारा खत्म हो जाएगा और रहमान की ताकत वालों का झंडा हशर में भी लहरा रहा होगा जान लेंगे वो कौन है ज्यादा शरीर अज्र में मकान के और कौन है ज्यादा कमजोर अज्र में मददगारों के अल्लाह ने अपने मोमिनों के जो मददगार है उनकी हौसला अफजाई की है उनका मरतबा बयान किया है दुनिया में मैदान जंग हो या आखिरत का मैदान हसर हो पर मैं हर एक को पता चल जाएगा कि जिन्हें मैंने मदद की ताकत दी थी वो कमजोर नहीं सबसे जबरदस्त है मोहत सामी हजरात बात बड़ी तफसीली है अपनी गुफ्तगु को समेट रहा हूं और आप ये शायद कुछ लोग सोच रहे हो कि इतना ज्यादा फर्क है क्या वो कह रहे थे और क्या कुरानी मजीद की मर्जी है इसी कुरान की आयात बार बार लिखे जा रहे हैं और शर्म उनको नहीं आती कि किन लोगों को निशाना बना रहे हैं और तीन कितनी कितनी बड़ी शख्सियात की तरफ फेंक रहे हैं ऐसा क्यों हो सकता है क्या ऐसा मुमकिन है मैं इस पर रसूल अक्रम सल्लाम की दो गवाहियां आपके सामने पेश कर रहा हूं और दोनों हदीसें ही बुखारी शरीफ से पेश कर रहा हूं आपको तजुब होगा कि ये कैसा है एक नौजवान है दारी रखी हुई है हाथ में कुरान है और तुम कहते हो ये झूठा है उसने अपने आप को मुतकी बनाया है परहेजगार इतना नमाजी है तहजद गुजार है और इतने दर्ज देता है और तुम कहते हो कि ये शैतान का काम कर रहा है और वारदात कर रहा है मेरे भाइयों मैं अपनी तरफ से नहीं कहता मेरी क्या मजाल है आओ बुखारी शरीफ में सैयद नारी मुर्तजा रजी अल्लाह तला रावी है रसूल अक्रम सल्लाम फरमाते हैं सयाती से जमान एक जमाना आएगा सयाती फी कौम उसमें कौम आएगी कैसी है खोदा उल असनान व सोफा हाउल अहलाम खोदा उल असनान नौ उम्र लड़के होंगे लौंडे सोफा उल अहलाम कम अकल होंगे खोदा उल असनान नौ उम्र उल अहलाम कम अकल फिर फरमाया ला जुजा दे जो ईमान हम हनाजरा उनका ईमान हलक से नीचे नहीं होगा हलक के ऊपर ऊपर उनका ईमान होगा क्या करेंगे क्या फरमाया वो चलेंगे बेकौल खैर बरीला या कुरान पढ़ेंगे या हदीस पढ़ेंगे इसके सिवा कोई नहीं सिर्फ कुरान और हदीस यकूलून बेकौल खैर बरीला कहेंगे हम बस कुरान और हदीस इन दो चीजों को मानते हैं ये उनकी निशानियां बयान करते हुए रसूल अक्रम सल्लल्लाहु अलैहि ने फरमा रिजल्ट उनका क्या है हाथ में कुरान है मगर दिल में महबूब नहीं हाथ में कुरान है मगर दाता से प्यार नहीं सरकार फरमाते हैं यमरकून मिनत दीन तमा यमरकू सहमो मिनत रमीजा फरमा दीन से ही खाली होंगे जिस तरह तीर शिकार को लग के बाहर निकलता है ना गोश्त होता है ना खून होता है बिल्कुल खाली निकल जाता है ऐसे ही वो लोग दीन से खाली निकल जाएंगे बुखारी शरीफ की हदीस है ये ईसाइयों की बात नहीं यहूदियों की बात नहीं मजीसियों की बात नहीं बुत परस्तों की बात नहीं यकूनों ने बेकौल खैर बरिया हाथ में कुरान है या हदीस है फुफहाउलाम वसाउलस्मान ला जुदा वे जो इमाम हराजरहम बल्कि अगली हदीस में मजीद वजाहत आ गई आपको समझने में आसानी हो जाएगी हजरत अबू सईद खुदरी रबी अल्लाह तला में इसकी रिवायत करते हैं सही बुखारी में हदीस मौजूद है मेरे महबूब इस्लाम ने शाद फरमाया एक कौम आएगी कैसी होगी फरमाया तहकिरून सलातकुम मा सलात हिम व सियामकुम मा सियाम हिम व अमलकुम मामल हिम हम ऐसी कौम आएगी आज लोग तकवे से भूल जाते हैं बनावटी तकवे से और जही रौनक जो दीन की वो लोग पेश कर रहे हैं मेरे महबूब इस्लाम ने फरमाया वो कौम ऐसी है ताकरूना सियामकुम व सियाम हिम तुम्हें अपने रोजे उनसे हकीर नजर आएंगे ताकरूना तकम व सियाम हिम उनकी नमाजों के मुकाबले में तुझे अपनी नमाजें थोड़ी नजर आएंगी कितने चिल्ले काट रहे हैं कहां कहां जा रहे हैं कितने कैंप लगाए हुए हैं कितने प्रोग्राम रखे हुए हैं आप समझोगे ये तो दिन रात बस फरिश्ते हैं इबादतें ही कर रहे हैं इतना इतनी इबादत हो रही है ये हो रहा है वो हो रहा है कुरान पढ़ा जा रहा है हदीस का दर्श दिया जा रहा है मेरे महबूब इस्लाम ने फरमाया ये बातें मैं मेजारे हक नहीं है ताकि ताकरूना सलाह का तुम सलाह इन अपनी नमाजें तुम से हकीर जानोगे अपने रोजे तुम से हकीर जानोगे वह आमाला तुम माँ आमाल हिम तुम्हें अपना अमल भी उनसे थोड़ा नजर आएगा कि हम तो दुनियादार हैं वो देखो उन्होंने कितने दीनदार लोग हैं किस हद तक ये काम कर दिया दीन के नाम पर ये काम कर दिया दीन के नाम पर सारी चीजें महबूब सलाम की आंखें छुपी हुई नहीं थी कुर्बान जाऊं अबूओं के हाकिम तेरी नजर पे आपने कहा कहा तक देख लिया था तेरी नजर खास सारे शब में गुलाब तहरीर कर चुकी थी उजार निंदों के खाब में इनकलाब तहरीर कर चुकी थी मेरे जेन के सड़क पर जो सवाल चमका तो मैंने देखा तेरे जमाने की खाक उनके जवाब तहरीर कर चुकी थी हर कोई आदमी जब सोचने लगता है तो ये बातें उसके सामने आ जाती है और फिर वो एक परेशानी सी महसूस करता है मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने ए परेशान उम्मती तेरी परेशानी को उस वक्त महसूस कर लिया था और हदीस सही बुखारी में मौजूद है रसूल अक्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन तीन चीजों का हवाला देकर नमाज नमाज के मुकाबले में रोजा रोजा के मुकाबले में और अमल अमल के मुकाबले में फरमाया तुम अपना थोड़ा समझोगे साथ क्या होगा फरमाया यकरऊन अल कुराना वला जुजाबिजुहना जेराहुम वो कुरान पढ़ेंगे मगर हलक से नीचे नहीं उतरेगा यकराउन कुरान कुरान हाथ में होगा कुरान से रोजाना तहीद का सबक है और तहीद की आयात पढ़ के रोजाना माजल्ला अल्लाह के बंदों के खिलाफ बातें की जा रही है सूरत के तीर खोले फेंके जा रहे हैं रसूल अक्रम सल्लाम ने आज से सदियों कमल उनके उस मजमून अमल को देख लिया था तो मेरे सुहावा कभी गुमराह न हो जाना ये शैतान की एक बाजी है शैतान की एक चाल है ये आजाद की वारदात है कभी भी परेशान न हो जाना मैंने गवाही दे दी है ये कुरान वो पढ़ रहे हैं जो सिर्फ जुबान से पढ़ा जाता है तुम कुरान वो पढ़ो जो मेरे ध्यान से पढ़ा जाता है यकरऊन अल कुरान किरात तजवीज तरतील पढ़ रहे हैं लफ्ज माना बयान हो रहा है मगर मेरे महबूब इस्लाम ने फरमा ला यू जादी जो हनाजुरा हो ये नीचे नहीं उतर रहा अलग से ऊपर ऊपर है नीचे तब जाए अगर सही मतलब हो तो फिर नीचे जाए जब बात ही गलत है तो फिर नीचे किस तरह जाए मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनका हसर क्या होगा इनका नतीजा क्या है फरमा यम रकून मिल दीन कमा यमरुक मिनर रमिया वो पहली हदीस वाले अल्फाज बोल दिए फरमाया दीन से यूं खाली होंगे जिस तरह शिकार को तीर मारा जाता है तो बिल्कुल खाली बाहर निकलता है उसके साथ शिकार की कोई चीज भी नहीं होती ऐसे ही पूरे दीन की चादरें लेने वाले और सब कुछ करने वाले दीन से बिल्कुल खाली हाथ निकल जाएंगे इस वास्ते कुरान का हाथ में होना इसको देख के किसी को मेयार हक ना समझा जाए और किसी की नमाज किसी के रोजे और किसी के अमल को ये महज एक गुलाबी तकवा है इसकी हकीकत के साथ कोई ताल्लुक नहीं है आप देखते हैं कुत्ता भी पेशाब करता हुआ अपनी टांग उठा लेता है क्या उसको छूतों से ज्यादा खतरा है और अपने कुत्ता होने से कोई खतरा नहीं है वो भी टांग उठा के पेशाब कर रहा है वो तकवा एक उसने भी इख्तियार कर रखा है उसकी कोई हैसियत नहीं है ऐसी मेरे महबूब सलाम ने जो इस तकवे का पर्दा चाक कर दिया वरना जब तक ईमान सही नहीं होगा इन बातों का फायदा क्या होगा मफहूम कुरान के साथ वारदात करने वाले जब तक मेरी वारदात की तरफ अपने दिल नहीं झुकाएंगे और वक्त तक कुरान की समझ किस तरह आएगी कुरान मजीद पढ़ के कुरान बालों से बरात कर रहे हैं सरकारी साथ परमा रहे बिल्कुल दीन से यूं खाली निकलेंगे जिस तरह के तीर शिकार से खाली निकल जाता है बड़ी बेहतरीन मिसाल थी तीर निकलता है क्योंकि बड़ा तेज होता है पतला होता है निकलता है और उसके साथ आपको शायद कोई चीज नजर आए गोश्त हो कोई आंत हो कोई हड्डी हो कोई बोटी हो किसी तरह की कोई चीज नजर नहीं आती शायद कोई बिल्कुल मामूली सा कोई खून का दाग नजर आ जाए वो भी बड़ी मुश्किल बात है तो वो इस तरह का रंग लगाए हुए वो तीर फिरते हैं और मुख्तलिफ दाने और हीले उन्होंने बना रखे हैं ए मेरी मिलत के सपूतों याद रखो मैं रमजानी मुबारक के इन लम्हात में अल्लाह की बारगाह में अपने आप को हाजिर समझ के सौ फीसद यकीन से कह रहा हूं अब मैंने आपके सामने पांच किस्तें इसकी पेश कर दी है और पांच किस्तों का मुताला कीजिए पांच किस्तों को याद कीजिए पांच किस्तों को आगे पहुंचाइए खुदा की कसम अगर एक बंदा भी तुम्हारे कहने पे सही हो गया तो दुनिया व माफी हाथ से आपके लिए बेहतर होगा एक बंदा भी राह किया गया दुनिया व माफी यहां से बेहतर होगा ये इस वक्त बहुत बड़ा जिहाद है बहुत बड़ा जिहाद है बहुत बड़ा जिहाद है सौ शहीद से ज्यादा शराब कमाने वाली बात है इस वास्ते इन चीजों को पेश नजर रख के समझ के आगे पहुंचाइए और जहां कहीं इस पे किसी शक पर किसी को कोई एतराज हो मैं जवाब का जिम्मेदार हूं अल्लाह के फजल से अपनी की बात को हर बात को पुराने सुनने से साबित करूंगा अब यह आपका काम है आप तस्वीर तादाद में कशीर तादाद में खातिन हजरात मौजूद है ये एक इमानत है ये हिरा का नूर है ये शिफा का सरूर है ये खाक हिजाज का उसका पैगाम है ये मेरे महबूब इस्लाम के सिहाबा की कुर्बानियों का सबक है ये करबला की उठती धूल का पैगाम है ये कायनात में सारी सदाकतों का यही सबक है और इस वास्ते इसको अच्छी तरह याद रखते हुए आगे पहुंचाइए ये वो नगमा है जो हर जर्रा भी पड़ता है हर चीज को ये सबक आता है हमने अपनी तरफ से खड़ा नहीं ये कायनात की सदाकतें हैं इस वास्ते मेरा ये पैगाम है और ये ऐलान है ये जमीन भी सुननी है वो आसमां भी सुननी है जलवाए खुर्शी सुननी क्या किसान भी सुननी है खतरा है शबनम भी सुननी दागदानी सुननी है नफ्स की तासीर सुननी दास्तान भी सुननी है माया मिलत भी सुननी निगाहबानी सुननी है अल सुन्नत के जिया लो बांध लो गर्दन कर नजर आएगा तुम्हें सारा जहां ही सुननी है कितने दुख की बात है पैसे वाले और पेट्रोल और डॉलर लेने वाले उन्होंने अंधेरे को सवेरा बना के बेचते में शुरू कर दिया ईमान का एक जज्बा उन दानों के मुकाबले में काफी है खुदा की कसम उठो और अपने इस मसलक को आम कर दो कितनी बड़ी ज्यादती है अल्लाह ने अपना राज जिन लोगों के नाम लगाया उन्हें अल्लाह का घर कहा जा रहा है सिरातल्लजीनता नहीं हम अल्लाह ने सिरातुल्ला नहीं कहा इन बंदों का रास्ता कहा है खड़ के कायनात ने जो इतना करीब कर लिया दिन रात उनके खिलाफ सरकसी हो रही है बगावतें हो रही है कुरान मजीद की आयात पढ़ पढ़ के उन्हें इस तरह उकसाया जा रहा है और फिर इस्लाम का मरकज जहां नहूसत मौजूद है हुक्मरानों की जिसकी वजह से पूरे आलम इस्लाम में इंतजार मौजूद है और लोगों का भी यौम हिसाब करीब आने वाला है जो आज के मौका पर नफरतों के बीज बोते हैं और खादमुल हरमैन खाद की तरफ से जो कुरान दिया गया है मैंने उसके बहुत से मकाम पे देखा है जहां उन्होंने तबर अल्लजी ने तो भी मिनल्लजी ने तबाऊ बलियों को शामिल किया है यहाँ पे फकीरों की बात की है पीरों को फकीरों को औलिया को उन्होंने बद करार दिया है ऐसा खादिमुल हरमैन नहीं होता खाइमुल हरमैन होता है हरमैन के पैगाम से वो खिलाफ कर रहा है इस वास्ते बेदार रहते चलने की जरूरत है सुनो जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है सोने वाले जागते रहना चोरों की रखवाली है आंख से काजल साफ चुरा ले बालों चोर बराते हैं तेरी गठरी पाती है और तूने नींद निकाली है सरकार की बारगाह में वो चोर बैठे हैं और वहां भी लूटने की कोशिश करते हैं ये आजमाइश और इब्तला का दौर है होशियारों के लिए अपने दीन को महफूज रखिए और अपने पैगाम को आगे पहुंचाइए वासरुदावाया उलामाए अहल सुन्नत की जीती जागती तकरीरों का मरकज अल फारूक केसट हाउस ख्याली अड्डा गुजरा वाला منك السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام